ए लोगो अगर तुम्हें दोबारा जी उठने में कोई शक है तो यकीनन हमने तुमको पहली बार भी तो मिट्टी से पैदा किया फिर एक कतरे से फिर जमे हुए खून से फिर गोश्त की बोटी से जिसकी बनावट मुकम्मल भी होती है और अधूरी भी ताकि हम तुम्हारे लिए जाहिर कर दें और हम जिसको चाहते हैं रहमों में ठहराए रखते हैं एक खास वक्त तक फिर तुम्हें बच्चे की सूरत में निकालते हैं फिर तुम्हारी परवरिश करते हैं ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंच जाओ और तुम में से कोई फौत हो जाता है और तुम में से कोई है जो नाकारा उम्र ज्यादा बुढ़ापे तक पहुंचा दिया जाता है ताकि बहुत कुछ जानने के बाद कुछ भी ना जाने और तुम देखते हो कि जमीन खुश्क पड़ी होती है फिर जब हम उस पर पानी बरसाते हैं तो वो उभरती है और फूलती है और हर किस्म की खुशनुमा नबातात उगाती है